तरह से कि तान हुसैन आपके पीर में था तो शायद तो गायक हमारी पूरी वर्ष में कम हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ फिर भी ये लंगला हमारा गाने बजाने का हम छोड़ा नहीं और जो को वंश पूछते हो भाई मेरा सी बने किस जगह से हाँ। हमारे अपने हैं जो सजरे में कहते हूँ चमन्ना चढ़ आविये हके चार हजूर बीजा मियाँ सुब मल्ला तो मियाँ मल्ला नूर जो ये सुर है सुर भाई किधर से ले आए चुप चुप के घर देखा गंदार मादम पांचव जीवत निखा जी सुर का चुनाव करके इकट्ठा करके उनमें राग कैसे फैलाई जो खर्ज मयूरा रिखबचात का जो सुर है उनका नाम गंदार मोर बकरा मेढक कोकल उनका सुर चुनाव करके सात सुर इकट्ठा किया पक्षियों का कोई किसी का सुर चुनाव करके सात सुर इकट्ठा उनमें फैला दिया उनमें से ये फैला हुआ सब छह राग और तीस राग सात सुर से तो सुर उनसे चुनाव हुई वो करने वाला कौन है हमारा तान हुसैन का परा परंतु मराज था उनका नाम मराज अच्छा। मराज मराज था जो उसके जीव पवन इस मिट्टी में नहीं बढ़ा जिस दिन की शक्कर आपको सुनाता हूँ हजरत आदम के बुत मिला के बनाया ईश्वर आदमिला ही हुक्म शुरू को निशानी करके आई जवारे भेजे जबराइल को गाँव राग कालू बनाई जब भी राग था ये रूह में पवन बड़ा उस दिन भी राग गाया जब राग गाओ कालू बलाई गाओ राग कालू बुलाई हजरत आदम के बुत मिला के बनाया सिराज मिला ही हुक्म सरू को निशानी करके नन्नाई दोबारे भेजे इसराइल को गाओ राग कालू बुलाई नन्नपन बाग भेजा पीर को उसने शक्कर पढ़ाई शिकन बना और शक्कर सीखी उसको शक्कर सुनाई यकदाराडन का अल्फिशक हवा से बिना बजाई बीन पहले से बजाया कुनवा से बिना बजाई जब करके अहद मस्त होके पठारू खुदाई खुल के दो नैन देखने लगा लक्का जबरी बोले आदम को सलाम आलिकुम आदम बोले जबराई को मालिकुम सलाम तेरे सलाम का जन्नत में मकान सलाम सलाम को मिलत है तुम हो खुदाई मैं अम्मत तो रसूल की बंदा हूँ खुदाई अजी शाह शिकर मंजूर है बेदी सा बेफा पढ़ा कलम रसूल का और कलम पुरुष सब गुनफा ये जो है राग गायक पहले से उस्ताद दी बनी और कालू वाला राग गाया उसके परापंत से राग का लगने से ये इतने बच्चे भी ब्रह्मासी रोई में वन में चले जागे धा करता उनका प्रेम से राग गाने लगे और सुनने लगे इंसान मोहित होने लगे तो फिर जो हमारे वो मिराज था उन अपने बच्चा उनका सात बच्चे थे वो बच्चे मिराज के ये अपने राग परापर पकड़े आए पकड़े आए फिर जिस बस में आ गई जो मीर था उनका बेटा था डग्गा डगे का बेटा बारह बारह डगे के बेटे में हम थे वो मिरासी का लगभ पकड़ के मिरासी वो परापरंत का हमारे पास सिजरा पड़ा है वो हैं मरासी मरासी गाने बजाने वाले जो इतनी भी वेशा और पात्र जो गाने बजाने वाली हुई वो हम लोग को उस्ताद कह के बदलाएगी आइए उस्ताद साहब कैसा ही गायक हो जो मरासी का बच्चा आके खड़ा हो गया तो उनको कह गया भाई आओ उसका था क्यों का हमारा वो लकब है गाने वाले इसी रूप से हमारा इमराज बना तो आपने क्या कहा डग्गा के बारे में क्या कहा आपने उनके मिराज के सात बच्चे थे हाँ? उसमें को, क्या उनका नाम उसका एक का नाम डग्गा अच्छा एक का नाम डग्गा डग्गा के बारे हुए बारह लड़के थे कई जो बारह लड़के अपने भाटी वंश से डग्गा हुआ भाटी वंश का और बारह लड़के थे बारह वो भाटी वंश में फैला दिए कोई सीधर कोई देदरा कोई बब्बी कोई बोधर कोई गेला उनका नाम था सब याद है आपको सब बारह याद है बारह बारह हाँ, हाँ।, हाँ जी बोलिए सब अच्छा मेरा जात सीधर सीधर और गेला बब्बी बोतर और हम्म, दूसरा फयम हम्म, दूसरा हुआ टीकम और दूसरा हुआ वर्ण और आए नहीं बार अच्छा, अच्छा ये नाम खाल तेरा ये खालता को मंगने वाले को नाम खालते राव जात जानी खालता की है वो जात के थयम है और झंझली का झंझली का झंझाओं को मांगने वाले अच्छा जंज तो ये ये इनके लड़के नहीं है ये अलग है ये अलग नहीं ये नाम वो, वो राज की छाप लग गई ऊपर उनकी अच्छा। राज जिसको पर मांगते हैं ना वो झंझा को तो झंझली का कहते हैं अच्छा। हाँ? ना बस लगा है जो राजपूतों को मांगता है ना ये तो उनकी जाति अलग अलग है तो ऐसे है कि वो आगे अलग अलग जाति वो अलग अलग उनको मांगता है राजपूतों को राजपूतों का आगे गाना बजाना गाता है और फिर उनसे भी कोई मांग है उनकी जाति तो अलग अलग बताई ही होगा आपको प्रिय खालतेरा और जंजरी का ऐसे ऐसे वर्णन हुआ और जंजरी के तो जंजरी के और वो कौन है जंजरी के ये जंजरी को तो बोले जंजा ना मांगे क्या खालते हाँ, ना मांगे जो खालते है कौन हमारी भाषा में खालतेरा गांव का नाम है हां सोलह बारह गांव है इस पूरे को मिलाकर खाल तेरा कहते हैं अच्छा। जब वो अपना कोई रस्ते में पूछ ले भाई तुम कौन है कि तो मैं तेरा जाना अपनी बता देंगे खालसा कहाँ यही बात है भाई रास्ते में चलते हैं तो कोई बता दे भाई तुम किसका है मैं जंजा कहाँ जंजरी कहाँ वो अपने जंजा की जात बताते अपने पर भाटी होता दंज भाटी भाटी है और खालते रे में जो कहे वो सोलंकी सोलंकी होती है सूर्यवंशी है जंद अच्छा आपने कहा कि मिराज के सात लड़के थे एक डग्गा उसमें से हाँ एक डग्गे की औलाद संतान को हम याद मगर दूसरे कौन थे उनके मिराज के लड़के लड़के वो मुझे मुंह जबानी याद नहीं अच्छा तो ये सिर्फ ये आप लोगों का आप लोगों की खानदान डग्गे से हुई डग्गे से हाँ चली आई बाटी के पीछे अच्छा। डग्गे से बड़ा लड़का सीधर मैं सीधर का मेरी जात सीधर बोलता अब अच्छा मैं सीधर तो जो आपने भाटी बंश को है नी आद बमानी चमनचा गुरु भैरव महाराज आद नारायण जो नमो तमो कृष्ण जदुराज आद भाट बस बैली ओ शाम पंच कुल भाट साला जाला ए टावरी वो कमदार के पाठ जुजर वेद है माधनिक साख्या है आतृष गोत है प्रोत गुरु है रत्नु जान है लारे लगा मंगनार प्रथम लगा पहले से तो वो वो बाटियाँ हानि बाटी उत्पन्न हुआ हमारा कृष्ण जी बहुत एक जबरदस्त हुआ जो वो कृष्ण जी की संतान ये फैली हुई है बाटी तो बढ़ने पर कहे जब थे तो हजूर मैं मनो बोली हिंदी को आगे बढ़ना की करा अच्छा डग्गा जो था ये ये सिर्फ मिरासी के हैं डगे सिर्फ बारह में दूसरी है सातवा में दूसरी है है मिराज का लकब तो उस दिन से जो रूर आग बढ़िया है इसमें मिराज का लकब तो तान हुसैन से और वो मिराज से लगा हुआ है मी आस मी आस पर डग्गे डग्गे के बच्चे सब मिराज ही बन गए हाँ, हाँ? भाई वो लकब अच्छा तो, तो और डग्गा तो नाम किसी और खानदान में नहीं होता नहीं और जात में नहीं आता डग्गा खास होता है जो डग्गा ही कहते हैं अच्छा। डग्गा खास होता नहीं तो उसको डग्गे ही कहते हैं हम डग्गा है वो अकबर का नहीं वो डग्गा है वो डग्गा है अच्छा तो हमारा डग्गे कई नाम से बोलता है और अच्छा। जो डग्गे का लड़का हो या सीधर वो हम सीधर से नाम से अच्छा, बोलते हैं मगर मैंने सुना हूँ कि कई ढोली ढोलियों में ये जात भी होती है डग्गा हाँ ढोलियों है है ढोलियों में ढोलियों में तो वो तो हिंदू है और हिंदू है इनमें आप लोग में क्या वो हमारी पता नहीं वो उनके में भी है हम सुने हैं हाँ मैं भी सुना हूँ कि विरासियों में है और डोलियों में है डोलियों में है हाँ, दोनों दोनों ही ऐसा मालूम होता है कि दोनों डग्गे के लड़के हैं हाँ, एक मुसलमान बन गया एक हाँ, और हाँ, अच्छा। एक हिंदू बन गया बन गया अच्छा बस एक अच्छा अच्छा मंगनियार नाम कब से शुरू मंगनहार मंगनहार मंगनहार और ये कब से शुरू हुआ नाम ये पुराना नाम है या पुराना नाम नहीं लाखा पुरानी था लाखा, लाखा। आ, या आप लोग का नाम लाखा था पहले ना नहीं लाखा पुरानी था वो दातार था अच्छा दातार वो भाटी की कुली में था लाखा पुरानी ये भाटी की कुली में था अच्छा तो उसने कहा भाई जो चीज मांगो सो जमा अच्छा जो हार था पड़े हुए सौ सौ लाख रुपए के पहले से पहले इलाके के दरवाजे पर चला गया वो मांगने वाला अरे क्या मांगता है तुम क्या मैं हार अरे ये तो मंगन हार है उनसे लगब क्या बस मंगन हार बन भाई हार पहले से मांगे हार था हीरा पन्ना का अच्छा वो से तो ये कितनी पुरानी दिन की बात है लाखा पुरानी हाँ, ये भट्टी पर राज था और वो लाखा पुरानी इतने में ऐसा हुआ लाखों तो लाखा फुलानी लाखा फुलानी सियालकोट राज दिया भूपत दी भीम दी ये सब सब छोटे ये सब अच्छा। जो वीर सेन सुदेव सूरत सेन पूछता हो तो हम सुनाए अच्छा जो वंशावली सब अच्छा मगर मिरासी के बारे में पूछ रहा था अच्छा लंगों जो हैं यहाँ वो हद लंग गया वो अलग है आप लोग अलग एकदम अलग है आप लोग कभी वो वो मिराज के लड़के आई मीन बच्चे नहीं है नहीं है हाँ? हद रंग के थे हद थी ना हाँ। वो रंग के जब वो रंग वो अपने हद को आगे पार कर सीमा पार है मतलब सीमा पार हो गई से पार हो गए तो इसको हद लंगे बोल गए हाँ, वो लंगे गए लंगा नाम उसका अच्छा। तो अक्रम काम किया तो अक्रम काम किया अगर क्या आपको सुनाए उसके बारे में अक्रम काम किया जब वो लंग गए जब दुनिया भी उसको कोई भी ऐसा काम और कोई नहीं करेगा ये लंग गए लंगा नाम दे दिया और वो साई वो सरोज लेके उसके मुंह में दे दिया ये सुनाई उसकी हाँ, हाँ। सुनाई है लंगे की अच्छा लंगे की सुनाई है लंगे बजाने वाले इसके हमारी ये विरासत की नहीं है मगर आजकल मिरासी लोग बजाते बजाते बजाते सॉन्ग के मारे अच्छा ये सुनाई हमारे मिरासी लोग की नहीं है जी अच्छा इसमें आप गारंटी कर लें अच्छा और पूरी ध्यान रखनी ये सुनाई बजाने वाला कौन जाति होती थी आगे कलंगा अच्छा। क्यों अक्रम काम किया था वो ही शस्त्र मुंह में पकड़ा दिया अच्छा। वो बेहद काम किया था जब मुंह में पकड़ा दिया अच्छा। जब वो बजाने लगा बस उनसे गुजारा किया और नगारची नगारची तो नगारा बजाने वाले को कहते हैं वो तो सुनाई के साथ ही बजता है ना वो नगारा नहीं वो अब नगारची सुनाइयों ये तो अपने सॉन्ग के मारे सीखे हुए लंगा दूसरी जात होती है अच्छा मगर नगारची ये जाती है हमारी ये आप लोगों की जाती है हाँ, नगारची नगारची हमारे जाती है जैसलमेर के नगारची हैं अच्छा जैसलमेर में जो रहे हैं आमद आमद आमद वो नगारची है अच्छा। वो रात जानी में नगारा बजाता था उनको नगारी नगार की बोलती मगर नौबत में सुनाई भी शनाई भी बजता था सुनाई हाँ, भी बजाते थे वो तो सॉन्ग की बात है ना अच्छा राज, राजाओं को बड़ी खुशी आती थी भाई सुनाई भी लाओ अच्छा। नगारा भी लाओ और ढोलक भी लाओ सबले भी लाओ अच्छा और जो चीज़ भी लाओ इसलिए करो वो नगारे वाले हमारे को जात को नगार की बोले राजधानी में इसमें जैसलमेर में मिलता आपको अच्छा जो नौबत जो है नौबत अच्छा नौबत मिरासी बजाते थे या लंगो बजाते थे लंगे बजाते नौबत मिरासी बजाते थे मिरासी लोग बजाते हैं अच्छा अभी आजकल लंगों में दो है एक तो सुनाया लंगा बोलते हैं हाँ। और दूसरा सारंगिया लंगा हाँ वो लंगा तो जात भी लंगा आ, हाँ, दोनों जात एक ही है जो जात एक अच्छा। सुनाइए लंगा अच्छा और दूसरा क्या बोला सारंगिया लंगा सारंगिया भी लंगा तो भी लंगा सुनाई भी बजाते और सारंगी भी बजाते तो भी है भी लंगा अच्छा जात तो लंगा ही बजाते एक न समो nacional les bases खान मेरा जी बोल रहे हैं भोंडा ही कराने और कोट में का मैं भोंडो और मैं दिल जीवा कह रहा हूं मैं भोंडा कर रहा हूं हां बोल बोल तो दादू दाल बोल तो जुई थी बोल बोल बोल बोल Brasil. Mm-hmm. बाट भीमाणा भला बधारी ये मन महाराज को धन माही मुसल आठ तना भूप सारो मरे कणी ने सो पाव कीनो एक गमनरा तलंती रति दो द्वार का पति नव कूट दीने बीट फौजो तड़ी गई कथा पर भक्त ने बात भाई सब तीन लोग तेरे हाथ समापी आओगी अमर दरा भई घरे आई घोड़ा कठड़िए कठड़े उपड़िए लो ए भेड़ो भड़को लो आला मेल मोजी कूजी लो पुंजरी पुंजरी पुंजरी पाको बंदो हिला कर कर थाको जब तेरे किले गई पूछल जीड़ो हाट थारो धनी मारा ए वाह बात का बात का दौड़ रो रो ए की है ए आचनी शाम के दाड़ियों એ ઓત દેનો કરે કઈ નહીં તો ઘણે બેટા સંગા મણકો ભરાળો આવે તો મેં પૂઠો સંગા ઘણે પ્યાસી તો ભરાઈ ગયા લાહી કઈ પણ ભગવાન મોટ હા અમે તો છોકરી આવી નમણો જહીન જતી નમણો જહીન ની જતી એ ફેર કેવા સિતારે ગોધા દે દડકતા સંગે બાર શાળે નમણો જહીન જતી એની ફેર કેવા સિતારે જતે હા આગળ જતવો હા હા નમાળો જહીની જતી ફેર કેવા ભણ સિતારે ગોધા દે તાડુ કતા સંગે બાર શાળે તમારે યાર પસંદ આ રાજી ખુશી ધવતા વિના ભલો યાર રાજી ખુશી બટ કે આત દે ખબર એ હું થોણ હારે તો હા તો ઘરાવ રાજી ખુશી તો કે રાજી ખુશી હજા હુરા બિચારા ઘેટા ખાવા ગીટ કે ને બંજારા ઘેટા ખાવા લો અપ બિચારા ઘેટા ખાવા લો પડી ને બંજારા ઘેટા ખાવા ગીટ કે હણ કોચે તાહી ને બંજો આ તો ના હી બેણો ઘેટા બેચે રતાયો લખી રતાયો હા હા હબરાલ કર એ અન્નતા લખી માર ઘણી ખમા અન્નતા હદમાં યો હણગાર હા રા જમા યત રાજી ગુબી રાજી ગુબી એ અડકો કે રોટે ખાલ દી એ ઘણી યો કી કરો બેટલા બાબા એ રોટે રોટે રોટે બડાઈ તું એ રોટે કી બડા હું તો આયો थारी तो मारे बाबू एक आज मनी होने क्या दे को कर आज ए मारे हुआ बेटे बाबू सही नहीं होगी अल्लाह तो। अल्लाह कर धड़ो सदा कोई भी थारी क्लाब माला फेर बनाई हां कहीं भरोसा बोलियो तो कहीं व्यापार हाँ, भी हां रोटी दो बेचारा મમ્મી બા જણીએ ખારી ગાળ કા મ્યાળ હોમી સાથી કદે જ નડી કોઈ આ હું જરા પડી પી તો લાબી રહ્યા એ યો કોં કે લાવલા રોટા પડી છે તો રેકલો કોની આ હું આ મ્યાળ છાડીએ ને ગેડી ગેડું ધમકો ચાલ ના ઓહો હા તો પડો કરે તેમ કોઈ તો હોમી સાથી જો ની હા હોમી સાથી જો તો હમે ગરટી આવે હે અર કી બતા રહે હે એ લે રોટા ખાઈ જા અરે મદદ દાદુડા પીંદારા તું अपराध पता हाट भरी डोकरी है आरटीओ काते हैं की तबीयत पर आकी ऊन अनेड़ो बुलाती आरटीओ फूटरो अन काते रहिए जा फलीरो बराबर बराबर गिरी बलवाद डोकरी माथे पांच हाथ आठ कपूने कबूतोने घोड़े पे नखो बड़ी नो हबराज महाराजा और और जमा में होतरा हो आजा ए राजी खुशी कुशल केर ठीक है ए है तो सारे घर में राजी कुछ केर ना हो हेंगे हाजा हुरा हूं थोड़े पिंदो रे हारी और मंगना वाह घोड़ी जावे पहले पकड़ फड़ फड़ पड़ी आती तो हड़ार बे पड़ी आ मैं तो का दिनो जरा दिखरे काया पिले जड़ी पतली लाडे जड़ी गोरी हां आ हाँ, पहले पकड़ पड़ी आवे तो हड़ार फड़ बे पड़ी बो बो बो बाहुई कुटे होरी कुटे देवरी कुटे सेठी कुटे ओ आपरा लखन करे एतरो बिना दुखे आज ए रुपियो जो रुपियो हालो दे देगा અને કાબરીઓ રાતી પારડા બેઠા તળાઈ જાય કોઈ એ લોકરી યો કીધો રૂપિયો જો ની ઉમરે ગાર તો કી ઇસકો નો કીતા લગે હા હું મંગણા રો મંગ મંગણા મંગણા તો નકલી જાય મંગણા રો તો જોગીઓ રો બારો ફૂટો કોઈ હાકલે પર ઊંધ કાતી દે હા તું મંગણ આવ્યો તું તું મંગણ આવ્યો તો બહાર જા કાલો ડૂબ કે હંગણ આવ્યો અરે હું મંગણ આવ્યો તો ડોકરી માં લાખો કો લખ્યો ને તું તું તું તું તું રે રે રે રે રે રે એ ડોકરી કતા તોડે એ વાળા Utamadım. को करे गायण राधे गाडाय राधे रे मराधाना राधे गणाड़ी रे कमल कमल लटो महिला रे राधे रे मराधाना राधे गणाड़ी रे कमल Oh. डिगडम जो तो काटा है कौन रुआ पे भाई जाने के दो फोटो तो मैं देर करेंगे ए आरती अधारती पांच सात कपूर जेड़े जोई माथे गोली बांधो को अरे तो, नींद तो खाए बा मारे कई तो तोरण आ गई इतना गुड़ नहीं मैं तो नहीं करे और ही मन में बहाए पड़ी ए हूं दहीदार जो गुड़को नहीं है अरे मां भींदरा रूटे खावे मां मैं कर कवर करियो जीवन ढोका भींदरा में अरे कावे रे कलइयो लाडो जी मैं नी गाए जी मैं लाडे रहा गाला दांत बतावे ओहो इनके मखे दूर है है बेंद्रा दा दिन्या है और हमें को करे तो कोई साधु ही गाया है और भजन थोड़ा बोलिया है ले छोकरा आवरा फोन करो आवरा आवरा आ चाचूड़ा खीमिया ओए भैया आवरा आ છે ભારી જા એ છે આપ કોણો એ હું હો એ થોણે આલો શેર મારી માં હું જો બાવી સોણા મહિનો સમજાવ કોઈ આ છે આપ કોણો હું થોણી ના રહો આ છોકરા કયો જોવાનો આવું હે તો ચા પીને પડી રહ્યો કનકોડી માં આવીને ચા પાઈને ગઈ હાલા કંકોડી બા બાપી નો આઈ ચા પાઈને ઘરે ગઈ હું તો હોશિયાર કોની આ સ્ટેજ ની વાત આપી યો. હા હું મારે જવાબ મેં આ છોકરા કયો જોણો હાકલા કરતો તો હતું કયો એ જો હજો એ પ- કહે છે જો છોણે છોણે આલો કરજો જો બાચો કોણે બાજ કોની કિયાનો ખોઈડે કરી નાક બાડી લે અહીંયા કી મેચ કહે જો હેલો કરે જો હવે કાકા આ હેલો મારે કરો માં ચંદ્રપુર ગાજ में રાખી કોઈ બીકાર મને દાખલા દે ને હાકલા દે થી આ ભજન કરો બોણે કરો આ કરો હા કરો આ રાવ બેઠડા હે એ હું રાજરો તો રાત્રા જ બેઠડા પોજો કાકો ઠોણે બેઠડા રાત્રા બેઠડા હા એના તું રાડે ને કેનો કરતો તો એ રાડે કાઢ્યો બાર ને બાર નો કોટો ને દીડે બચા મત કરો ખેત કરો ખડે ખેંચો આપને ભલા જન કે અમે આ બે લેખો કરો કે કનકોર બિયા મોળ કાઢી હતી હા અમે મારે કનકો એક જ હતી હા અમે ઉએ પરણાય જો થને ઠા દુનિયા આપતી ઠા એનો કદે અમે સાવણ ઉએ બેટા ભર ઘણી ઓળ કાઢી હતી અમે આપ લેખો કરો કેટલા ભર હોનો કઈટા કનકો કદે પરણાઈ મને કદે પીલા કે એ સાવણ મારે કનકો એક હતી હારે બકેમો ઓ પરણાય જો ઉભી લો પરણાય ઉભી પર ઓળ કાઢી હતી અમે ઉતરા ભરવા થઈ જણો થોડી મરી જાય હા ભણ ચારો રાજારી બારો કચે કોની જી અમે ભણ રાજારી બંધ અરે જવાબ લાગે अच्छा तो आप लोग डाडी भी कहते हैं कि सिर्फ भान हाँ, आप लोग निराशी लोग हैं हाँ। कि अलग आप ये मंगनियार जो है वो आपसे अलग है कि एक नहीं नहीं एक का हमारा ग्राह तो ऐसा अपराध याला मैं मस्करा आज भोंड करता इधर अच्छा ऐसा हमारा भाई ग्राह है हमारा भाई है भाई है सब ए हमारा भाई है अच्छा। हूं नहीं इस भाई हां ओए वहाँ और भी ऐसा करने वाले हैं और आपको आपके पिताजी भी ऐसा करते थे हाँ। हाँ? उनसे आपने सीखा है हाँ। और ये अलग अलग गाने गाते हैं ये या क्या एकदम गाना नहीं गाता हूँ हाँ मगर ये कौन सा गाना गाया था आपने इसमें ये, ये कहाँ से बने हुए यानी जो मंगनियार जो गाते हैं वो अलग गाने हैं तो ये गाने कहाँ से सीखे आपने ये ये का का गाना है हाँ। है ये मस्करी का यही थोड़ा कुछ गाना सुनाएंगे गाना हाँ, हाँ, हाँ। सुनाइए थोड़ा कुमारी चार के साथ सुने बीड़ी खत्म कीजिए अच्छा ये मेले के बारे में महाराज जी तो ये आप मैं, मैं आपको पूछा था कि ये मेला का नाम क्या है ना आपने शुरू कर दिया था इस मेले का नाम है श्री भटियानी जी का मेला तो ये उजाले पक्ष की दूध से चालू हो जाता है और पूर्णमासी तक ये चलता है इसके बीच में इसके मुख्य दिन ऐसे रखे हुए हैं जैसे बीज पाँचम सातम नम तेरस और चौदह इसी ढंग से ये हर महीने लगता है अच्छा। जिसमें ज़्यादा करके ये माघ का महीना और दूसरा भादों का महीना अच्छा। ज़्यादा हम्म। टाइम तक रहने वाला बहुत लोग दूर दूर से जो कि यहाँ नहीं रहते हैं वहाँ बहुत दूर जैसे आपके मुल्क में भी रहते हैं वहाँ से भी यहाँ लोग इस मौके पे पहुँच पाते हैं जो साल में एक दफ़ा नहीं तो वो आ नहीं सकते हर महीने इसलिए साल में एक दफ़ा वो यहाँ तो और भी मेले हैं आज मैं सुना के वो दूसरा बड़ा मेला हो रहा हाँ, है काले डूंगर पे मेला हाँ वो अलग मेला है वो अलग है वो अलग है जैसे इसमें ऐसा है कि देवियों के हमारे यहाँ भिन्न भिन्न नाम हैं जैसे उनके भिन्न भिन्न नाम हैं वैसे ही उनके भिन्न भिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं तो ये भटियान जी के नाम से इस स्थान का नाम है तो ये भटियान जी के नाम से ही मेला तो ये हर महीने होता है हर महीने तो ये खास कौन सा दिन है आज आज चौदह मेला जो है दूसरा मेला जो है वो काले डूंगरचिया देवी जी का है <laughs> काले डूंगरचिया देवी देवी देवी अच्छा। उसका दूसरा मेला आज के दिन उनका भी वहाँ बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है वो काले पहाड़ के ऊपर ही उनका अच्छा। मंदिर है उनका जो मंदिर है वो एक पहाड़ है अच्छा। काला उसके ऊपर ही है इसीलिए उस पहाड़ के नाम से ही उन देवियों का नाम जो है वो काले पहाड़ वाली बोली जाती है तो यहाँ कितनी देवियाँ मानते हैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत लंबी है जैसे पहले मैंने आपको रिकॉर्ड करवाया है उसमें उनके सबके नाम आते हैं अच्छा। जहाँ जहाँ जैसलमेर में मुख्य मेले लगते हैं उन सबके ही नाम उस अच्छा। देवी की उस रिकॉर्डिंग में है, है। अच्छा।, अच्छा। Ay काल का कला कालकड़ नई काल कम जी